और ए पैगंबर हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे वो सब ऐसे थे कि खाना भी खाते थे और बाजारों में भी चलते फिरते थे और हमने तुम लोगों को एक दूसरे की आजमाइश का जरिया बनाया है बताओ क्या सब्र करोगे और तुम्हारा परवरदिगार हर बात देख रहा है